मुझे तो पहले से ही यही लगा था जतिन ने कहा उस साल टनल के भीतर जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था एक्सीडेंट से भी ज्यादा बुरा कुछ हुआ था तभी ये रोनित बनर्जी सबको मार रहा है मुझे तो लग रहा है कि जब ये लोग सुरंग के भीतर फंसे हुए थे तब इसकी माँ को और उसको खाना वगैरह नहीं मिल रहा होगा हो सकता है बाकी के लोगों के पास कुछ खाने को रहा हो लेकिन किसी ने उसे कुछ दिया ना हो और फिर भूख के चलते उसकी माँ की मौत हो गई हो इसीलिए अब वो एक एक को मारकर अपने माँ की मौत का बदला ले रहा है तभी वो सबको भूख से तड़पा तड़पा कर मार रहा है बिल्कुल सही बात श्रेयस ने भी जतिन की बातों से सहमति जताते हुए कहा ऐसे ही कोई किसी को नहीं मार देता है हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है कई बार तो जुर्म के पीछे किसी का जिंदगी भर का दुख भी होता है हम्म, विक्रांत को कुछ याद आ गया उसने तुरंत ही श्रेयस की तरफ देखते हुए कहा श्रेयस जी ये बात कुछ सुनी सुनी सी लग रही है पहले भी ये सब सुन चुका हूं मैं हे श्रेष राव ने हंसते हुए कहा ये पहले अपने डीसीपी डिसूजा साहब थे ना वो अक्सर कहा करते थे डिसूजा साहब सिर्फ मुजरिम को पकड़ते ही नहीं थे बल्कि अक्सर वो मुजरिम को सुधारने का भी काम करते थे वो ही कहते थे कि अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह जरूर है कई बार दुख में डूबा हुआ इंसान प्रतिशोध के गलत रास्ते पर निकल पड़ता है वो इतना दुख और पीड़ा में होता है कि वो अपने दुख का खुद ही हिसाब कर लेना चाहता है और इसी फेर में वो अपराध की दुनिया में आ जाता है हम्म, सही बात है संगीता पहले भी श्रेयस के मुंह से इस तरह की बात सुन चुकी थी और अभी इस वक्त वो इस तरह की बातों में अपना वक्त नहीं खराब करना चाहती थी इस वक्त उसका दिमाग सिर्फ किसी तरह से रोनित बनर्जी को अरेस्ट करने पर लगा हुआ था अब कोई भी क्राइम करे और किसी भी सिचुएशन में करे वो मुजरिम ही होता है इसलिए हमारा काम मुजरिम के इंटेंशन को देखना नहीं है बल्कि उसे पकड़ना है अभी हम एक कातिल को पकड़ने आए हैं बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है हम्म, विक्रांत ने सहमति से सिर हिलाया उसे संगीता और श्रेयस दोनों की बात अपनी जगह पर ठीक लग रही थी दोनों का तर्क ठीक था लेकिन अभी ये तर्क वितर्क करने का वक्त नहीं है अभी कैसे भी करके इन्हें रोनित को अरेस्ट करना है अब तक पुलिस की गाड़ी कोलाबा पहुंच चुकी थी कोलाबा पहुंचने के बाद ये लोग सामंत रोड की तरफ बढ़ चले थे यहाँ पहुंचने के बाद पुलिस स्टेशन पर बैठे इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्रांत के पास फोन करके उसे बताया कि इस वक्त रोनित का फोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ है सो इस वक्त उसे ट्रेस करने में मुश्किल हो रही थी विक्रांत समझ गया था कि अब उसे क्या करना है उसने तुरंत ही सबको रेडी रहने के लिए कह दिया उन्हें पता था कि रोनित यहीं कहीं आसपास है जल्द से जल्द अब इन लोगों को रोनित को अरेस्ट करना है अभी विक्रांत ने फोन रखा ही था कि उसके पास नैना का फोन आया विक्रांत ने तुरंत ही नैना का फोन पिक किया विक्रांत सुनो नैना कुछ घबराई हुई सी लग रही थी उसने विक्रांत को बताया कि एक बैड न्यूज है वो जब हम लोग सुबह के यहाँ पहुंचे तो पता चला कि वो गायब है उसकी फैमिली ने बताया क्या गायब है मतलब विक्रांत का दिमाग फिर गया उसे ना जाने क्यों आने वाले खतरे का एहसास होने लग गया था अरे यहाँ सुमोना की फैमिली वालों ने बताया कि वो पिछले कुछ दिन से गायब है वो बिजनेस के किसी काम के लिए घर से दिल्ली के लिए निकली थी लेकिन तब से कुछ पता नहीं चला उसकी फैमिली वालों ने यह भी बताया कि वो दिल्ली वाली ट्रेन में ही नहीं चढ़ी थी अब तक उसको गायब हुए कुल चार दिन हो गए विक्रांत नैना ने परेशान होते हुए कहा सुमना गायब है कहीं ये रोनित का अगला शिकार तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक के सीरियल मर्डर केस की अगली विक्टिम सुमना ही हो हमें जल्द से जल्द रोनित को खोजना पड़ेगा मुझे पूरा यकीन है कि सुमना को भी उसी ने कहीं छुपा रखा है और अगर अगर रोनित नहीं पकड़ा गया तो फिर सुमना की भी जान खतरे में है तुम लोग बिल्कुल अलर्ट रहो ओके विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा इस वक्त उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बैंक का ये सीरियल मर्डर केस इस तरह के अंजाम पर आ पहुंचेगा क्या सच में सुमोना अरोड़ा को किडनैप किया गया है और क्या सच में उसे रोनित ने ही किडनैप किया है अगर सच में ऐसा है तो फिर ये भी कहना मुश्किल है कि सुमोना अभी तक जिंदा है या मर चुकी है क्योंकि उसको गायब हुए ऑलरेडी चार दिन हो चुके हैं कहीं अब तक रोनित ने उसको भी मारकर इस सीरियल मर्डर केस का सातवां विक्टिम ना बना दिया हो साल 2000 में जो बस एक्सीडेंट हुआ था उसमें जितने लोग बचाए गए थे उसमें अब सिर्फ रोनित बनर्जी और सुमोना अरोड़ा ही जिंदा बचे हैं यानी कि इस सीरियल मर्डर केस का आखिरी टारगेट अब सुमोना ही है आखिर ऐसा क्या हुआ था उस बस के भीतर पुलिस की गाड़ी कोलाबा के भीतर मौजूद सामंत रोड पर भ्रमण कर रही थी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रोनित बनर्जी का घर यहीं के आसपास है लेकिन चूंकि अब उसका फोन ऑफ हो चुका है तो पुलिस को खुद ही उसके घर को ढूंढना होगा जैसा श्रेयस राव और जतिन बता रहे थे कि सामंत रोड के आसपास का एरिया बहुत अजीब सा है ठीक वैसा ही यहाँ की लोकेशन नजर आ रही थी रोड पर तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई पड़ रही थी यहाँ पर रोड के किनारे जो घर भी बने हुए थे वो भी काफी पुराने नजर आ रहे थे घरों के सामने गाड़ियां भी खड़ी नजर आ रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन गाड़ियों को सालों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया हालांकि यहाँ कुछ घरों में लोग रहते भी थे लेकिन अधिकतर घर खाली ही पड़े हुए थे ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ कोई आता जाता नहीं था बड़ा अजीब सा माहौल था यहाँ का यहाँ का शांत माहौल सुकून देने वाला नहीं बल्कि बहुत अजीब से एहसास करा रहा था यहाँ तो आसपास कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही थी कोई ऐसी शॉप भी नहीं दिख रही थी जहाँ से घरेलू सामान भी खरीदा जा सके ऐसी जगह पर रोनित बनर्जी बुक स्टोर क्यों खोल कर बैठा था ये भी समझ से परे है ऐसी जगह पर बुक स्टोर खोल कर ये बंदा किताबें बेचता किसको है यहाँ तो इंसान नजर ही नहीं आ रहे जतिन ने संगीता की तरफ देख प्रश्नवाचक लहजे में कहा और दूसरी बात रोनित कमाता कहा से यहाँ दुकान से तो उसके खाने के भी पैसे नहीं निकलते होंगे तो फिर ये बैंक में दस दस साल के लिए लॉकर का चार्ज कैसे भरता है सुनिधि ने पहले ही इस बारे में पता लगा लिया है विक्रांत ने जवाब दिया भले ही रोनित बनर्जी के बाप का बिजनेस चौपट हो गया लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए इतना पैसा छोड़कर गया है कि वो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता है अपने बाप के पैसे से ही वो बैंक के लॉकर का चार्ज भरता है ओ तभी तो जतिन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा पैसे की टेंशन है नहीं उसको उसको बैठे बैठे करना ही क्या है बस लोगों को मार मार कर लॉकर रूम में पैक करना है तभी तो ये बड़े आराम से बेफिक्र होकर सबको मारता फिर रहा है अभी जतिन बोल ही रहा था कि गाड़ी को ड्राइव कर रहे डिटेक्टिव ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर सर वो देखिए वहाँ वो रहा रोनित का बुक स्टोर विक्रांत और संगीता समेत सभी इन्वेस्टिगेटर्स सावधान होकर बुक स्टोर की तरफ देखने लग गए सब लोग अब बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गए विक्रांत ने जैसे ही बुक स्टोर की तरफ देखा उसे वहां पर एक जानी पहचानी सी गाड़ी नजर आई ये डीएन नगर पुलिस स्टेशन की ही गाड़ी थी विक्रांत तुरंत ही इस गाड़ी को पहचान गया ये साला विनोद यहाँ कैसे पहुंच गया इसकी तो विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा दरअसल यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स का हेड विनोद राय पहले ही पहुंच चुका था उसे देखकर विक्रांत का पारा गर्म होना ही लाजमी था कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पहले ही रोनित बनर्जी के बारे में पता चल चुका है अगर ऐसा हुआ तो फिर डीएन नगर ब्रांच के डिटेक्टिव्स की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी ये कैसे यहाँ आ गया अभी आज सुबह ही तो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है किसी को कुछ खबर भी नहीं दी तो फिर इस कमीने को रोनित के बारे में भला कैसे पता चल गया जतिन ने इरिटेट होते हुए कहा कमीने हैं साले विक्रांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा ये लोग साले हमारी बातें कहीं से सुन रहे थे इनकी तो मैं बताता हूँ इतना कहकर विक्रांत लपक कर गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी के पूरी तरह से रुकने के पहले ही उतर कर नीचे आ गया बाहर आने के साथ ही उसका ध्यान अपने कुत्ते शेरलॉक होम्स पर गया विक्रांत तो भूल ही गया था कि उसके साथ उसका शैलॉक होम्स भी यहाँ पर आया हुआ है वो गाड़ी में बैठे बैठे विक्रांत की तरफ देख कर करने लग गया विक्रांत को भी अपने इस दोस्त की जरूरत महसूस हुई उसने शैलॉक की तरफ देख कर उसे समझाते हुए कहा देख देख बेटा अभी मैं तुझे जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ तुझे बस एक ही काम करना है जो भी मिल जाए उसे बस काटना शुरू कर देना और तब तक काटना जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए वहाँ अंदर कुछ पुलिस वाले लोग हैं मेरा इशारा करते ही तुम उन पर टूट पड़ना जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता उसी तरह से विक्रांत ने अपने कुत्ते शेरलॉक को समझाया शेरलॉक ने भी अपना दुम हिलाते हुए भों भों करके भौंक दिया ऐसा लग रहा था मानो वो विक्रांत की पूरी बात समझ चुका है इसके बाद विक्रांत ने उसे जमीन की तरफ इशारा करते हुए गाड़ी से उतरने का इशारा किया लेकिन शेरलॉक जी गाड़ी से बाहर कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे वो लाचार नजरों से सिर्फ विक्रांत को देख ही रहा था उसकी आंखों में डर का भी माहौल नजर आ रहा था तभी विक्रांत को याद आया कि इसके पैर में तो चोट लगी हुई है ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है ओ, ओ मौके पर तुम भी काम नहीं आओगे विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अभी तक विक्रांत अपने कुत्ते से बात कर ही रहा था उधर संगीता और जतिन समेत बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स बुक स्टोर की तरफ बढ़ चले थे सभी ने अपनी गन तान रखी थी और बड़ी सावधानी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे अब चाहे स्पेशल टास्क की टीम ने रोनित बनर्जी को अरेस्ट किया हो या नहीं लेकिन इन लोगों को पूरी सावधानी के साथ अपना काम करना था संगीता सबसे पहले सबसे आगे चल रही थी उसके पीछे बाकी की टीम फॉलो कर रही थी ये लोग जैसे ही बुक स्टोर के भीतर दाखिल हुए अचानक से सभी बाहर आ गए ऐसा लग रहा था किसी ने इन्हें अंदर से बाहर की तरफ धक्का दे दिया था संगीता अचानक से जमीन पर गिर पड़ी विक्रांत थोड़ी दूर से ये सब होते देख रहा था तभी अचानक से उसकी नजर स्टोर के दरवाजे पर पड़ी विक्रांत वहां का नजारा कर सन्न रह गया